होता वो भी जैसा है भूतन तदृत घट को विषय का नहीं करता है इतने से अघटम भूतलम या निघटम भूतलम या घटाभाव भूतलम में क्या हो रहा है भूतलाकृत घटाभाव विषय हो रहा है ऐसी बन जाएगा हेतु भी है भूतल मात्र भिन्न भी होता हुआ भूतल व्यवहार आ गया ना घटवत भूतल में भी भूतल व्यवहार तो है ही और भूतल मात्र व्यवहार का अतिरिक्त वहां पर भी है अतः भूतल मातृवार अतृप्त सती भूतल वारत्व हेतु भूतल में है कि भूतल कहता है भूतल मात्रवार से अतृप्त भी है क्योंकि उसका घट दिख रहा और एक भूतल भी है ना उसमें अतः भूतल वारत्व भी है हेतु पूरा है साथ ही भी है भूतल से अतृप्त भाव का घट को विषय करता है भूतल अच्छा हेतु तो कम होने से व्याप्ति संग्रह हो गया व्याप्ति जब गृहित हो गया तो पक्ष में भी आसानी से वहित होने के कारण से हेतु तो अपरणीय घटाभाव भूतल में निर्घटम भूतल में अघटम भूतल में क्या है भूतल अघट निर्घट घटाभाव नाम चीज को आप उच्चारण कर रहे हैं घटाभाव भूतल मात्र हेतु और भूतल व्यवहार भी है ही विशेष रूपेण अतएव भूतलाकृत आकृत विषय क्या है घट के साथ भाव नहीं है किंतु अभाव विशेष दोनों पक्ष में ये भाव सिद्ध हो जाएगा ऐसा किसी ने अनुमान किया किसी मानम भूतल व्यवहार अनेकांतिकम लेकिन कहता भूतल ऐसे कोई केवल भूतल प्रयोग कर रहा है उसके साथ अनेकांतिक दोष हो जाता है भूतलम यहाँ पर क्या है केवल भूतल का व्यवहार कर रहे हैं ना आप केवल भूतल का व्यवहार कर रहे हैं वहां पर साध्य भाव है है कि नहीं स्वाति का अभाव है स्वाति क्या है भूत अतिरिक्त विषयत्म भूत अतिरिक्त अभाव का विषय नहीं किया जा रहा है किसी भी अन्य चीज के विषय नहीं कर किया जा रहा है और भूतल भूत तो हेतु है हेतु कैसा है हेतु का विशेषण उसको है ना भूतल मात्र अतिरिक्त वो तो भूतल जवाब नहीं हेतु भी विशेषण पर हेतु भी नहीं है ऐसा करना चाहिए फिर आप कैसे कि यह हमारा भूतल इस प्रकार की प्रतीक है नहीं नैविचरित है क्यों विचरित हो रहा है कैसे विचरित हो सकता है तो वो कहना पड़ेगा भूतल जब खोल दिया तो साथ में अस्थि तो होगा ना अस्तित्व तो होगा अस्तित्व तो क्या है भूतल अतिरिक्त तक सोचते हैं हृदय तो हेतु विद्यमान है हेतु विद्यमान है साथ में जाएंगे भूतल अतिरिक्त विषय तो लेकिन विषय रूपये विद्यमान नहीं है ऐसा व्यक्त भाव विषय होता हो जैसे कोई अभाव विषय आपने बताया घटवत गुण में घट का विषय घटाभाव घटाभाव विषय था और उदाहरण में अति जो क्रिया अतिरिक्त होता है वो विषय नहीं है इसलिए फिर विचार सिद्ध हो जाता है ऐसा कोई कहे ऐसे तो ऐसे कोई कह भी देता हो तो भी तथा अभाव अभिगंतव्य फिर भी अभाव का आपको तो स्वीकार करना ही होगा अभाव को माने बिना यह संसार नहीं चल सकता क्यों क्योंकि केवल है भी अभाव व्यवहार दर्शना क्योंकि केवल अभाव में व्यवहार होता है लेकिन जिस दवेदिशम जो सोकर चढ़ रहा वो क्या कह रहा है ज्ञान भाव का तो खत्म कर रहा है इसका ये जो मूढ़ आदमी मूढ़ आदमी भी जो व्यवहार कर रहा है इस और का अपराध कैसे कर हो गया और विद्वान विद्वान व्यवहार करते हैं सो के जगेगा ज्ञान थोड़ी जाएगा मैं जब ब्रह्म को देख रहा था ज्ञानी का शरीर सो गया सो के जब ज्ञान उठा तो थोड़ी बोलेगा वहां पर ब्रह्मांड को कर रहा था तो ठीक कहेगा अभी वहां कुछ नहीं व्यवहार से ही होगा क्योंकि सुबह भौतिक वृद्धि तो है मन और बुद्धि का अहंकार का कोई वृत्ति वहां नहीं चल रहा है इसे इनका कहना है कि देखो केवल ज्ञान अभाव अपनी अभाव व्यवहार व्यवहार नहीं हुआ व्यवहार दर्शन केवल भूतल का ज्ञान न होने पर भी अभाव व्यवहार देखा जाता है केवल ज्ञान अभाव तो कर सकते हैं वो भी ले सकते हैं केवल भूतल का ज्ञान न हो भूतल का ज्ञान नहीं है फिर अभाव व्यवहार होता ही होता केवल भूतल का ज्ञान भी न हो तो भी अभाव व्यवहार तो होते रहेगा घटद रूप सावलंबे रूपम घटो निभवती भिन्नश्च उत्पाद देखो एक और हमसे बड़ा प्रमाण दे रहे हैं भवती घटत रूप घट और घट का रूप ये दो एक साथ उपलब्ध सदा ही केवल घट को अनुभव करता है केवल रूपों को अनुभव कर सकता है हमेशा द्रव्य को एक साथ अनुभव होते बिना पूर्ण का द्रव्य ग्रहण नहीं कर सकता रूप को देखे बिना या स्पर्श को ग्रहण के बिना द्रव्यन अंदर जो करता स्पर्श करता है ना स्पर्शानुभव के बिना कहा तो उसको द्रव्य का अनुभव होगा गुणानुभव पूर्वक ही द्रव्यानुभव होता है या क्रियानुभव पूर्वक ही द्रव्यानुभव होगा दोनों एक देखेंगे ही आप अतः गुण विशिष्ट द्रव्य या क्रिया विशिष्ट द्रव्य सदा हमारा होने, होने के बावजूद व्यापक होते हुए भी आप क्या मानते हो द्रव्य गुण भिन्न है द्रव्य क्रिया भिन्न है बोलते मेरे बोलते वही कह रहे हैं यद्यपि घट और रूप दोनों सह उपलब्ध सदा एक साथ उपलब्ध होते हैं कभी अलग उपलब्ध हो ही नहीं सकते किसी को भी ऐसे होते हुए भी रूपम न भवती व्यवहार नहीं होता है रूप घट नहीं है घट रूपम न भवती दोनों बात होता है इति भिन्नत्व उत्पाद द्वारा या भेद कथन करने वाला जो है भिन्नत्व को भिन्नत्व उत्पाद द्वारा क्या इस प्रकार से जो है भिन्नत्व वास्तव तो सही है यह घट नहीं है घट रूप नहीं है रूप घट नहीं है ऐसा तो जो है द्वार हो जाता है भिन्नत्व उत्पाद द्वारा और भेद ही एक आदर्श व्यवहार उत्पन्न कर सकता है भेद का मतलब अन्योन्या भाव अन्योन्या भाव को माने बिना घट रूपम न भवती रूपम घटो न भवती ये नहीं सकता भिन्न भेद भेद बने यही को व्यवहार तत्र केवल ज्ञान अस्ती नच तत्र केवल ज्ञान और वहां पर केवल घट ज्ञान केवल रूप का ज्ञान कभी नहीं होगा केवल घट केवल रूप का ज्ञान वहां है नहीं है दोनों साथ में उसके बावजूद भी उन दोनों में भेद दृढ़ हो रहा है अन्य अनुभव दृढ़ होता है अतएव अभाव को यदि नहीं मानोगे कि व्यवहार कैसे होगा घट रूपों भगवती रूपम रूपों घटो अनुभवती ये व्यवहार नहीं हो पाएगा इतना ही नहीं और एक बात आधार अस्थिरणे आधार अग्रहण सर्वेशा अंतराय आरोप का अभाव व्यवहार क्योंकि इसी प्रकार देख लो अंधकार में बैठे हुए मार्ग आदमी अंधकार में कल यहाँ बैठेगा वहां बैठा बातें तो हो रही है आपस में इधर पता है आदमी है वहां जब सुनाई दे रहे आवाज सुन रहे बात हो रहे आपस में आगे वहां आदमी है आपको मालूम है आप पीछे बैठे आपको मालूम यहाँ मैदान में चार पर बैठे भले अंधकार में से एक दूसरा दिखाई दे रहा है एक दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा जैसे बातचीत रही है इससे मालूम है आदमी है तो दोनों का बीच में क्या है फिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा ये पूछा जाए क्या बोलोगे आलोक का अभाव है ये तो कहना पड़ेगा यदि प्रकाश होता तो बात करो मेरे को दिखाई देता अच्छा घोरापने कारण आमने सामने रहने के बावजूद भी आवाज सुनाई देने के बावजूद भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता है तो आप क्या कहेंगे ये आलोक का अभाव है एक आलोक बाबा को कहा ग्रहण किया कौन के आधार में देखा आपने तो याद आ रहे वहां बीच में जिसमें देख रहे हो आलोक का भाव जैसे घटा भाव को अलग देख लिया आपने आलोक का भाव जो आप प्रधान कारण है आपने कहा देखा क्या आधार है कोई आधार आधार ग्रहण हुए बिना ही आदो का ग्रहण हो जाता है अरे भी नियम नहीं कर सकते भूत के बिना सदाभाव नहीं हुआ ऐसे नहीं बोलना नियम नहीं आधार ग्रहण पूर्वक ही अभाव ग्रहण होना ये कोई नियम नहीं स्थापित कर रहे इस युक्ति से दिखाना चाह रहे हैं अभाव को ग्रहण करने के सदा आधार को ग्रहण करना जरूरी है इसे कहते देखो सर्वेशम अंतराले आलोक का अभाव व्यवहार सभी के व्यवहार ऐसा होता है दो तो व्यक्ति अंधकार बैठा हो अंतराल में बीच में कोई आधार अनुभव दिखाई नहीं दे रहा है जिस अधिष्ठान में आप आलोक भाव ग्रहण कर रहे हो लेकिन आलोक भाव व्यवहार होता ही है अगर अभाव तो मानना ही पड़ेगा और तो और के बाद छोड़ो अंधेर को भी अभाव का ज्ञान होगा है जैसे कर परामर्श अंधकार है अंधर से आते मूर्ता और मूर्त के अव्यवहार देखता है एक अंधा आदमी है हाथ को ठोला देखा झुंडा मेरा कुछ नहीं तो कहते रहे तो कुछ भी नहीं बनी खाली खाली है यहाँ कहेगा ना वो चाहता हो तो भी करप रामर्षेण अंधकार अंधस्यापी अंध पुरुष से आगे मूर्ता अभाव व्यवहार दर्शनाथ इस व्यवहार में अभाव वस्तु नहीं पदार्थ नहीं है ये आप नहीं कर सकते हर प्रकार से दिखा रहे हैं अभाव को संसार मन नहीं पड़ेगा अंधा भी मानता है अनुमान से निषेध करता हूं अभाव को कौन ग्रहण करेगा हाँ? चक्षु चक्षु ग्रहण करेगा सभी इंद्रिया अपने अपने अभाव ग्रहण करते इनके नियम क्या है योग गुणो ये इंद्रिय ग्राह तद कर तदभाव ते नहीं वो ग्राह्य ये सारे इंद्रिया क्या करती है स्वक्रिय ग्राह्य गुण का अतिरिक्त ग्रहण करेंगे तो उन इंद्रियों से ग्रहण जाएगा सब नियम हो गया ना इसलिए कहते देखो निष्कान चक्षु का देंगे तो चक्षु चक्षु ग्राह्य भाव अतिरिक्त चक्षु के द्वारा ग्राह्य जो भाव पदार्थ है उससे अतिरिक्त अन्य भी कुछ ऐसे पदार्थ है जो चक्षु ग्रहण करता है कौन है वो उसी का नाम अभाव है इंद्रिय घ्राणवत दृष्टांत है दृष्टांत छपा है घ्राणवत जैसे कि घ्राण इंद्रिय होता है यही अनुमान ये है चित्सुखी में अभाव की सिद्धि में या सारा का सारा यही चीज बोल है कुछ भी अंतर नहीं है सारा पा नीचे दिया पंक्ति गोरक्ष सुखी का चक्षो चाक्षुष भावातिरिक्त ग्राहकम इंद्र स्वास्थ्य ग्राहक बल्कि एक और अनुमान है उन्हें किसी अन्य ग्रंथ में से वैसे दर्शन का ही रिकॉर्ड है निर्घटम उदर मिली विज्ञान बेहतर विज्ञान आलम्बन मात्र अतिरिक्त आलम्बन वही अनुमान जो अघटम भूतल का है ना वो निर्घटम भूतल शब्द बदल दिया ना केवल इति विज्ञानम इतना ही बोला इति उन्होंने कहा व्यवहार है ना अघटम भूतल में थी व्यवहार उन्होंने क्या बोला निरटम भूतल में थी विज्ञान जब कहता है एक विज्ञान आलम्बन मात्र स्व जो आलम्बन का जो विषय है भूतलाकृत तो विषय जैसा कहा उन्होंने उन्होंने इस उस विषय ज्ञान का आलम्बन जो विषय है उससे भिन्न को भी विषय करता है एक भाव मात्र आलम्बन निर्विकल्प है इतर ज्ञान निर्गुण इतर ज्ञान क्योंकि निर्गुण संकल्प ज्ञान भी है संकल्प ज्ञान नहीं भी निर्घटन पुतला सकटम पुतन विधि ज्ञानवत घटव विधि ज्ञानवत इस प्रकार से सूचीकार ने भी इनकी अनुमानों को दूसरे थोड़ा शब्दों का बदल करके प्रयोग किया है चक्षु क्या होगा रूप भाव क्या है रूप या घट कोई प्रत्यक्षता की उससे व्यतिरिक्त उससे भिन्न ग्राम के द्वारा कहे गया होगा अभाव गंदा भाव अगर से भी है हेतु तो भी है दृष्टांत में तो क्या सिद्ध हो गया व्याप्तवाद सिद्ध हो गया तो पक्ष में ग्रहण करने में कोई समस्या नहीं है वहां पक्ष के चक्षु वो आगे ध्यान ग्रहण है चक्षु ग्राह्य बाह्य भाव मित्र अथवा साथी को ग्रहण करो चक्षु का अभिप्राय कौन है रूप उससे भिन्न गंदा भाव ग्राह तत्व कब जब हम दृष्टांत बताएंगे चक्षु ग्राह क्या होगा रूप भाव ग्राह क्या है रूप या घट घट चक्षु ग्राह उससे व्यतिरिक्त उससे भिन्न ग्रहण के द्वारा कहे क्या होगा भाव गंदा भाव जब दृष्टान घटाएंगे हमें अभाव से करना है ये गंदा भाव देखो फिर ध्यान जैसे गंगा का उपकरण करता है ऐसे चक्षु भी रूपों का उपकरण करते शुरू करना है बस इतना अंतर है साध्य को निष्ठा में जो घटा होगा गंध भाव होगा ठीक और कौश घटा होगा तो रूप भाव में होगा इतने ग्राहक अब से भाव पदार्थ गंध का ग्राह कैसे होता है चक्षु की भी चाक्षी भाव पदार्थ रूप घट आदियों से भिन्न घटा भाव रूपा भाव आदि का भी व्याप्त होता है अतः अभाव पदार्थ इंद्रिया है ये सिद्ध हो गया अतः अभाव भी सिद्ध मानना पड़ेगा वह भाव स चतुर्विधा बच्चा प्राग भाव प्रध्वंसा भाव अन्य भाव अत्यंत भाव भेदा प्राग भाव प्रध्वंसा भाव अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव भेद से चार प्रकार का कहते हैं ये तो आप अभाव और आप पदार्थ चार क्यों मानते हो क्या जरूरत चार मानने की कहते प्रतियोगी भेदा भिन्न तुम अभाव प्रतियोगी का भेद की वजह से हमें अभाव को भी भिन्न भिन्न मानना पड़ रहा है चार मानना पड़ रहा है कहते क्या प्रतियोगी अलग अलग है इनमें सर्वसामान्य रूप में बताओ कहते हैं पहला वाला जो अन्योन्य भाव है तो तालाब संबंधा उसी होता है तालाब संबंध अवच्छिन्न होता है तादात्म्य हो और दूसरा उल्टे क्रम से यहाँ पर क्रम में है नहीं तो ऐसे ही बोल दिया क्योंकि वहां पर क्रम होता है प्राग भाव प्रदंसा भाव अन्य में भाव पहले दिया अत्यंत भाव पहले दिया या बोलते थे क्रम में जो देखो पहले बोलते सारा तारकों अन्य भाव का संस्कृत मतलब अत्यंत भाव पूर्व संस्कृत का मतलब प्राग भाव और अपर संस्कृत का मतलब प्रदंसा भाव चाहते क्रम नहीं है यहाँ पर ऐसे ही बोला हुआ ये इनके प्रतियोगिता हमेशा अन्य भाव पर सुविधाक्षीण होता है हमेशा चिंता भाव ये तीन जो संसर्ग अवच्छिन्न होगा समय संबंध स्नेह संबंध क्या संबंध होते अवच्छिन्न होगा चिंता भाव और प्राग भाव सदा ही अतीत काल संबंध अवच्छिन्न होगा पूर्व काल ना पहले नहीं था घट कब से नहीं अनाधिकाल से नहीं मृतिका घट का प्राग भाव काल निरूपित है पूर्व उत्पत्ति से पूर्व उत्पत्ति से पूर्व में क्या है घट का प्रागभाव है उत्पत्ति के अनंतर क्या है घट का प्रधान भाव है वो तो इसलिए प्राग और प्रधान भाव संबंध आधारित तो नहीं है मुख्य रूप में काल आधारित है उत्पत्ति पूर्व काल उत्पत्ति के पश्चात काल काल का संबंध कारक बन जाता है मृतिका है उत्पत्ति पूर्व कालावच्छिन्न घट का प्रागभाव मृतिका में देखा जाता है और घट प्रकरण का खुद घट में देखा जाता है और नष्ट में केवल कपाल में देखा जाता है ये सब कब हो रहा है लेकिन उत्पत्ति अनंत अंत होता है इसे उत्पत्ति अनंतर का मतलब क्या उत्पत्ति अनंतर काला और छिन्न घट घट प्रदन का भाव घट में और कपाल में देखा जाएगा इसलिए कहते प्राण पूर्व अपर संदृष्टारा प्रतियोगित्वा अन्यथा यदि बात नहीं मानते ये अंतर फर्क को स्वीकार नहीं करोगे प्रतिबंध का भाव पहले प्राण को टिंसित किया हम लोगों ने पहले वो सारा काम करना जाएगा प्रतिबंध का भाव से कारण दुर्घटन प्रतिबंध का भाव सभी राष्ट्रीय जो कारण मान रहे हैं वो असंभव हो जाएगा दुर्घट हो जाएगा अन्यथा इसलिए आपको मानना पड़ेगा और दूसरी बात यह भी है अभाव में भी चार क्यों मानना पड़ रहा है इसीलिए नहीं तो अत्यंत अभाव अन्योन्य भाव अत्यंत अभाव क्या इतरेतर तो अभाव है अंतर्भाव भाव नहीं तो क्या होगा अत्यंत अभाव को इतरेतर तो अभाव में डालना पड़ जाएगा अत्यंत अभाव अभाव में अंतर क्या पड़ता है देखो प्रतिबंधक अत्यंत अभाव और प्रतिबंधक का अन्योन्य भाव प्रतिबंधक रहते वक्त भी प्रतिबंधक का अन्योन्य भाव रहता है नहीं प्रतिबंध क्या करना है है उससे प्रतिबंध का तो बहुत रहेगा ना वस्तु में जैसे उत्तेजक मणि है प्रतिबंधक था नहीं उत्तेजक नहीं है वो चंद्रकांत मणि चंद्रकांत मणि अग्नि के चाह वस्तु को रोक देता है तो प्रतिबंधक है ना प्रतिबंधक कौन है जैसे अग्नि का चाह शक्ति दबी हुई है अनुभूत हो गई है जब स्थिति में भी प्रतिबंध का अन्न दवा हो या नहीं फिर अग्नि को क्या बोलेंगे अग्नि चंद्रकांत महिला भगवती बोलोगे ना और चंद्रकांत मनुष्य अच्छा, अग्नि भगवती बोलोगे नहीं बोलोगे लेकिन प्रतिबंध कर रहा सेवा प्रतिबंध का अत्यंत भाव मिलेगा नहीं मिलेगा प्रतिबंध क्या है उस प्रतिबंध का अत्यंत भाव है यहाँ नहीं रहेगा इसलिए आपको देखो इसका मतलब क्या है प्रतिबंध का अत्यंत अभाव प्रतिबंध का रहने पर नहीं रहता और प्रतिबंध का न्यून अभाव प्रतिबंध का रहने पर ही रहता है और प्रतिबंध न हो तो भी रह सकता है ना तो भी आप कह सकते हैं भाई ये जो अभी चल रहा है जो चला ही रहा है वो चंदन बड़ी नहीं है तभी बोल सकते हो यानी प्रतिबंध का हो या ना हो दोनों अवस्था में क्या है अन्य भाव रहता है यानी प्रतिबंध का रहने से अत्यंत हो नहीं रहता है यदि अत्यंत हो तो फिर बनना पड़ेगा नहीं मानोगे तो इच्छा गड़बड़ हो जाएगा अन्य भाव में यदि अत्यंत भाव को अंतर्भाव कर दोगे कर सकेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी ना यहाँ पर यदि अत्यंत भाव अन्य भाव में अंतर्भाव हो जाए फिर क्या होगा फिर प्रतिबंध काल में भी अत्यंत भाव है ये कहना पड़ेगा प्रतिबंध जब खड़ा है तब प्रतिबंध अन्य भाव है और अन्य भाव में अंतर्भाव कर दोगे तो अत्यंत भाव भी बोलना पड़ेगा यह आपत्ति और अत्यंत भाव है तो कार्य सिद्ध होना चाहिए ना अत्यंत भाव है तो कार्य सिद्ध होना चाहिए नहीं जब प्रतिबंध अत्यंत भाव हो जाए तो जलाना चाहिए कार्य सिद्ध होना चाहिए और यहाँ आपके कहने के अनुसार क्या है प्रतिबंधक के रहते वक्त प्रतिबंधक तो अन्य भाव कैसे रहता है और अन्य भाव अंतर्भाव कर दोगे तो अत्यंत भाव से रहेगा तो क्या होगा प्रतिबंध का अत्यंत भाव रहते हुए जलना चाहिए था क्यों जल रहा कारण सत्य कार्याभाव अन्वय इसका कार्य करते हुए काम करना होता अन्वय विचार है कारण करते हुए कार्य नहीं हुआ और कारण नहीं है कार्य हो गया उसको व्यतिरिक विचार करते अतएव हमें एक दूसरे में उनका अन्योन्य अत्यंत भाव को अन्योन्य भाव में अन्योन्य भाव अत्यंत भाव में अंतर्भाव भी नहीं कर सकते उनका पृथक पृथक ही मानना पड़ेगा सत्य सत्य की प्रतिबंध भावास्थ विचार तथा सत्य सुने कौन प्रतिबंध प्रतिबंधक जब प्रतिबंधक जो है उसका खड़ा रहते हुए भी प्रतिबंध भावात विचार रखते हैं फिर भी कार्य सिद्ध हो रहा जो प्रतिबंधक है तो मतलब क्या प्रतिबंधक का धन्यवाद भाव भी रहेगा जब प्रतिबंध का अन्य भाव है अन्योन्य भाव में भी आपने अंतर अत्यंत भाव का अंतर्भाव कर दिया तो जब अन्य भाव रहेगा तो अत्यंत भाव क्या मानना पड़ेगा और जब प्रतिबंध कर आने पर जैसा अन्य भाव आ गया वैसा अत्यंत भाव भी आ गया है आपके अनुसार जब अत्यंत भाव आ गया तो कार्य से होना चाहिए तो क्यों नहीं कार्य होगा इसी का नाम वे विचार अंग विचार कर कारण आ गया है कारण विद्यमान है फिर भी कार्य नहीं हो रहा इससे सिद्ध हो गया कि प्रतिबंध का चिंता भाव और प्रतिबंध का अन्य भाव दो भिन्न चीज है अथवा अच्छा, अन्य भाव रहने पर भी अत्यंत भाव नहीं है एक आज है और अत्यंत भाव रहने पर भी अन्य भाव नहीं है एक आज तो सकता वस्तु है जरूरी नहीं अन्य भाव है तो अत्यंत भाव भी हो यह कोई जरूरी नहीं है और अत्यंत भाव हो अन्य भाव भी है यह कोई जरूरी नहीं होता